ಓ भगवद गीता अष्टादश अध्याय पचास नंबर के श्लोक पर कुछ विचार हो गया था जिसमें चाहे इस जन्म का हो चाहे जन्मांतर का हो वर्णाश्रम विहित जो कर्म अंतर्गत शुद्धि के साधन होते हैं वह कर्तव्य है करके दिखाया जा रहा है यहां से ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणी प्रयोगता स्वभाव प्रवज गुणी यहां से लेकर अभी तक वही सिद्ध कर रहे हैं अपने अपने कर्म के विषय में कहा स्वस्वी कर्म निभिरता समसिद्धिम लभते रह स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा बिंदु तत्णो इत्यादि कहा अपने अपने जो कर्म हैं अपने अपने कर्म के द्वारा उसमें में लभते न कहा स्वस्व कर्म ने अभर जो जो अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य होता है वह सिद्धि को प्राप्त करता है मैंने ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षण सिद्धि जिसे आगे जाके ज्ञान होगा आत्मज्ञान होगा उसकी योग्यता आ जाती है अपने अपने कर्मों के माध्यम से मैंने अंतकर शुद्ध हो जाता है तो ज्ञान निष्ठा की योग्यता आ जाती है वहां सिद्धि शब्द का ज्ञान निष्ठा योग्यता स्वकर्म निर्ता सिद्धि मेथा बिंदता कहा अपने अपने कर्म के द्वारा जो समसिद्धि होना है ज्ञान लक्षण योग्यता रूपी सिद्धि है यथा बिंदु सुन जिस प्रकार वो प्राप्त करता है मेरे से सुनो भगवान ने कहा क्या प्राप्त करेगा यतः प्रवृत्ति भूताराम ये न सर्वविदम ततम स्वकर्मातम विभ्रत विभ्रच सिद्धि विद्युतमान यही आया है जिससे ये सारे संसार की उत्पत्ति है यथा प्रवृत्ति बहुत चेष्टा होती है सारे संसार की जिससे जिस परमात्मा से यथा प्रवृत्ति भूताराम ये न सर्वम विदम ततम जिसके द्वारा सारा संसार व्याप्त है सर्वत्र व्यापक तत्व जो आत्मा है स्वकर्मात्म अभ्यर्थ अपने कर्म के द्वारा उसकी पूजा करके अपने कर्म के द्वारा पूजा अपने अपने कर्म के द्वारा पूजा करके सिद्धि बिंदति मानव आगे जा करके ज्ञान प्राप्त करता है ये साधन अंतकर्म शुद्धि के साधन चाहे इस जन्म का हो चाहे पूर्व जन्म का हो कभी का हो मैंने वर्णाश्रम विहित कर्म को ही बताया हुआ है उसके बिना अंतकर्म की शुद्धि नहीं होगी अंतकर्म शुद्धि के बिना ज्ञान होगा नहीं ये सब बताया सिद्धिम प्राप्त यथा ब्रह्म ये न सर्व सिद्धिम प्राप्त यथा ब्रह्म तथा प्रतिबोध हमें कहा था सिद्धि प्राप्त हो गई ज्ञान लक्षण योग्यता आ गई ज्ञान होने की योग्यता आ गई तो अब ब्रह्म प्राप्त जिस प्रकार से करेगा सिद्धिम प्राप्त यथा ब्रह्म तथा प्रतिबोध हमें मेरे से सुनो भगवान कह रहे हैं समाज ही नहीं तो कौनते या निष्ठा ज्ञान से अपरा जो ज्ञान की परम निष्ठा है परम काष्ठा है उसको मैं बताऊंगा संक्षेप में बताऊंगा ये कहना चाहते हैं या परा शब्द का अर्थ चार प्रकार के भक्ति में से परम भक्ति ज्ञान है चतुर्विधा भजन तेम जना सुकृत अर्जुन आर्तो जिज्ञास अर्थात ज्ञानी च भरतर सप्तम अध्याय बोल के आए थे चार प्रकार के भक्त लोग मेरे भजन करते हैं आर्त भक्त है जिज्ञासु भक्त है अर्थार्थी भक्त है ज्ञानी भक्त है ज्ञान परानिष्ठा हो ज्ञान चतुर्थी भक्ति हाँ चौथी भक्ति ज्ञान निष्ठा रूपी भक्ति प्राप्त करना है उसके बाद कहते हैं आगे जब ज्ञान निष्ठा योग्यता आने के बाद क्या हो जाती है अंतकरण की शुद्धि हो जाती है तभी ना तो ज्ञान निष्ठा योग्यता आनी यही कहना चाहते हैं आगे बोलना चाहते हैं आगे टीका में है ना बुद्धेर वैसारध्यम यत्न कार्य करना नियम अच्छा, अच्छा। ब्रह्मज्ञान से पराम निष्ठाम प्रतिष्ठापिताम ब्रह्म ब्रह्मज्ञान की जो परानिष्ठा है प्रतिष्ठापित हो गई उसका अनुवाद करके पूर्व को स्थापित कर दिया था उसका अनुवाद कर सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथा प्रतिबोध हमें समाज से निष्ठा ज्ञान से अपरा कहा हुआ है तो ब्रह्म ज्ञान से परम निष्ठा प्रतिष्ठापिताम जो ब्रह्म ज्ञान जो है परम निष्ठा को प्रतिष्ठापित किया गया जो ब्रह्म ज्ञान है उसका और अनुवाद कर श्लोकांतरम अवतार पृथ्वी कहा आगे के श्लोक का अनुवाद करके पूछते हैं उसका अनुवाद कर आगे के श्लोक के अवतरण के लिए पूछता है पूर्वादि का स्वयं ज्ञान से परानिष्ठा उच्यते कथम कार्य ज्ञान की जो परम निष्ठा कहा गया है पूर्व श्लोक में किस प्रकार करनी चाहिए ज्ञान की परम निष्ठा ये कैसे करनी चाहिए प्रश्न है तो इसके उत्तर में श्लोक है ये कहना चाहते हैं बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मान नियम्य शब्दादीन विषय त्यक्वा रागदेशो विदुष्य बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मान नियम्य च शब्दादीन विषयास्त्यक्त्वा रागदेशौ विदश्य इस श्लोक में पूर्व क्रिया है उत्तर क्रिया नहीं है क्योंकि यहां त्वा प्रत्यय लगा के लप किया हुआ है समान कर्तव्य पूर्वकालीय सूत्र है दो क्रिया के कर्ता एक ही हो तो पूर्वापर भाव से होने वाली क्रिया हो ऐसी स्थिति में पूर्व क्रिया में दो तो प्रत्यय लगता है भुक्त तो को रखा करके जाता है तो प्रत्यय पहले है ब्रजति क्रिया आगे है इस प्रकार यहां कल्पते क्रिया आएगा त्रिपन नंबर के श्लोक में समर्थ होता है ये सब पूर्व क्रिया के पूर्व क्रियावाचक शब्द है तीन श्लोक में ऐसी स्थिति है और आगे जाके कल्पते क्रिया आनी है उत्तर क्रिया तो पूर्व पूर्वकालीन क्रिया में तो अप्रत्यय तो के स्थान में लप रखा है हम यही है विशुद्धया दुग्ध्या युक्त हो ऐसा उन्होंने करना विशुद्ध बुद्धि से युक्त हो गया अप्रमण वर्णाश्रम धर्म कर्म जो था वो करके चाहे इस जन्म को चाहे पूर्व जन्म को उसके द्वारा बुद्धि विशुद्ध हो गई शुद्ध हो गई बुद्धि इसके द्वारा युक्त होता हुआ संयुक्त होता हुआ विशुद्धया बुद्धिया युक्त हो विशुद्ध बुद्धि के द्वारा युक्त होता हुआ वो व्यक्ति जो वर्णाश्रम कर्म कर रहा था पूर्व अवस्था में धृत्या आत्मान नियम आत्मान धृत्या नियम शरीर इंद्रिय मन आदि को धैर्य पूर्वक निमंत्रण करके जब विशुद्ध बुद्धि होगी तब शरीर इंद्रिया आदि को नियंत्रण करने की शक्ति आएगी उसकी यहाँ आत्मा माने शरीर इंद्रिया आदि हैं शरीर इंद्रिया आदि सबको नियंत्रण करके अपने अध्ययन करके बुद्धि शुद्ध होने पर ही यह कार्य हो सकता है जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं है उनके अधीन होकर चलेगा शरीर विराजमान विशुद्धया बुद्धिया युक्त विशुद्ध बुद्धि के द्वारा युक्त सन युक्त होता हुआ वह क्यों अपने वर्णाश्रम धर्म कर्म के द्वारा शुद्ध मुक्ति हो चुकी है वह होता हुआ आत्मान धृत्या नियम आत्मान शरीर इंद्रिय कार्यक्रम संघातम यह कार्यक्रम संघात है शरीर इंद्रिया पुंज है इनको नियंत्रण करके आत्मशब्द करते यही है यहां नियम नियंत्रण करके अपने अधीन करके शब्दादि विषय स्तोत्र तो बाहर के जो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंधादि विषय हैं उनको त्याग करके जब मन अपने अधीन हो गया है तो शब्दादि विषय को त्यागने में कोई परेशानी नहीं होगी शब्दादि विषय स्तक तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो पांच विषय हैं बाहर के विषय हैं उनको त्याग करके राग देश विदर्श भीतर भी दोष विषय पड़े राग द्वेष रूपी विषय हैं इष्ट अनिष्ट भाव इनको भी त्याग करके भी उत अशुक्षेपण धातु तो लेप करके विदस्य बनाया हुआ है अशुक्षेपण धातु है फेंकने अर्थ में होता है धातु भी और दो उपसर्ग लगाया हुआ है और त्वा प्रत्यय लगा दिया समास नए पूर्वक तो अल्यप लगा के लेप लगा दिया समास हो रखा है बी और उद प्राधि है प्राधि समास है तो बाहर के विषयों को त्याग करके कहते हैं कैसे विशुद्ध बुद्धि के द्वारा युक्त होता हुआ आत्मान शरीर इंद्रिय संघातम कार्यक्रम संघातम कार्यक्रम जो संघात है इसको नियंत्रण करके अपने अधीन करके शब्द आदि विषय तत्व जो बाहर के विषय है शब्द स्पर्श रूप रसगंधक जो पांच ज्ञानेन्द्रों के द्वारा अर्जित होते हैं उनको त्याग करके भीतर नहीं देना उनको राग द्वेषो जब मन भीतर एकाग्र करते बुद्धि के द्वारा शरीर भी नियंत्रण करने पर शब्दा विषय आ नहीं सकते त्यक्वा राग द्वेषों की राग द्वेष जो अंतकर्म के धर्म है राग और द्वेष इसको भी त्याग करके ये अर्थ होता है थक करके कहा आगे ब्रह्म भूयाय कल्पते वहां उत्तर क्रिया आगे आने वाली है तो पूर्व क्रिया में सब ये कहा हुआ है बुद्धिया अध्यवसायत्मिकया कहते हैं निश्चय निश्चयात्मिका बुद्धि ये बुद्धि है विशुद्धया वो बुद्धि कही निश्चय करने वाले अंतकरण की वृत्ति को बुद्धि कहते हैं संशयात्मिका जो वृत्ति होगी उसको मन कहते हैं अंतकरण की वृत्ति है सभी एक ही अंतकरण चार भाग चार प्रकार से काम करता है बुद्धिया अध्यवसात्मिकाया कहा अध्या निश्चय निश्चय स्वरूप जो बुद्धि है उसका स्वरूप निश्चय करने वाली होती है विशुद्धया माने माया या परवंचनादि से रहित हो बुद्धि कुटिलपना से रहित तो ऐसी बुद्धि के द्वारा यही विशुद्ध का अर्थ युक्त सन होगा युक्ता मैंने संपन्न हाँ, ऐसा संपन्न होता हुआ बुद्धि से संपन्न होता हुआ छल कपट रहित बुद्धि से युक्त होता हुआ विशुद्ध बुद्धि के द्वारा युक्त होता हुआ तृतीया मन धृति माने उसके तृतीय तृतीय धैर्य के द्वारा तृतीया मन धैर्य आत्मान नियम्य कहा हुआ है आत्मा को नियंत्रण करना आत्मा मैंने यहां क्या है कार्यकर्म संघातम ये बोलते शरीर इंद्र पुंज जो है ना आत्मा शब्द का अर्थ है यहाँ कार्यक्रम संघातम नियम ने चाह कहा उसको नियमनम कृत्वा बोल दिया नियंत्रण करके तो बुद्धि विशुद्ध होगी तो कार्यक्रम संघात तो होंगे ही और बुद्धि विशुद्धि के लिए कर्म चाहिए वर्णाश्रम विहित कर्म कृत्वा वशी कृत्य यही है नियमन कृत्वा अपने अध्ययन करके अर्थ होता है और शब्दादिन विषयांश तत्व कहा हुआ है शब्द आदि रेशाम शब्द है सबसे पहले जिनका किनका पर्श आदि का शब्द स्पर्श रूप से गंध में शब्द आदि है बहुरी समास है इसमें शब्द आदि में शब्द आदि मान शब्द आदि रेशाम थे शब्द शब्दादय तान उन शब्दादियों को विषयान जो पांच प्रकार के विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध उनको त्यक्वा त्याग करके बुद्धि विशुद्ध हो गई बुद्धि विशुद्ध होने से शरीर इंद्रिया आदि अपने नियंत्रित हो गए उसके बाद शब्द आदि को त्यागना सरल होता है इनको त्याग कर कहा सामर्थ्य करते सभी विषय त्यागेंगे अभी जीवन मुक्ति अवस्था में होगा व्यक्ति वो साधक है शरीर पात तो हुआ नहीं फिर जीवन के साधन क्या रहेगा उसका आगे ज्ञानार्जन करना है ज्ञान के लिए साधन हो रहा है तो साधन ही नहीं परिपक्व हो पाएगा शरीरपात हो जाएगा शब्द आदि ग्रहण नहीं करेगा क्या फिर आगे कैसे उसकी स्थिति होगी तो कहते नहीं सामर्थ्या सामर्थ्य से सिद्ध होता है शरीर स्थिति मात्राण केवलान होता इस जिससे केवल शरीर की स्थिति बने इतने मात्र को छोड़कर बाकी शब्द आदि को त्याग शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो है शरीर के लिए जितने आवश्यकता है उसे अधिक को त्याग करके सामर्थ्य आप सामर्थ्य ये तो साधन अवस्था में अभी है आत्म प्राप्ति के साधन में लगा हुआ है तो शरीर स्थिति मात्रावान केवलान मुक्तवा कहा शरीर स्थिति के मात्र जितने होंगे शब्दादि विषय उनको छोड़कर बाकी को त्याग करके माने मन के लिए जितने शब्दादि होते हैं वो त्यागना शरीर के लिए जितने आवश्यकता है उतने रखना यही ग्रहण करना कहा तथो अधिकान शरीर स्थिति मात्र के लिए जो जरूरत है आवश्यकता है उससे अधिक जितने भी होगा सुखार्थान के मन में एक सुख का विलासा के लिए मेरे इतने हो गए उतने हो गए कहने के लिए होता है त्यक्ता कहा सुखा था त्यक्ता जो सुख के लिए जितने होते हैं मन में मन के लिए होते हैं उनको त्याग करके शब्द आदि विषयों को त्यागना यह है शरीर स्थिति अर्थत्व प्राप्त आर्देश हाँ। शरीर के स्थिति के लिए जितने शब्दादि का हम विषय आवेदन कर रहे थे उसमें भी रागद्वेश को त्याग करके राग भी नहीं होना चाहिए द्वेष भी नहीं होना चाहिए इसके बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा अथवा ये क्यों मेरे पास आया राग द्वेश नहीं तो होना तो उनमें भी किन में जो शरीर स्थिति के लिए जितने हम शब्दादि ग्रहण कर रहे थे उसमें भी राग द्वेष को त्याग कर कहा राग द्वेष से चाहिए है शरीर स्थिति अर्थत्व न शरीर स्थिति के लिए जो प्रयुक्त शब्द आदि हैं प्राप्त सुप्राप्त जो शब्द आदि में भी राग द्वेष दृश्य से कहा परित्यज राग द्वेष को त्याग करके उपभोग करना ये स्थिति है साधक की कहा ठीक है कहते हैं या यम ब्रह्मज्ञान से परा निष्ठा जो ये बताया गया ब्रह्मज्ञान की परा परम काष्ठा है परम निष्ठा है समारोपित तद्धर्म निवृत्ति द्वारा ब्रह्मणी परिसमाप्ति करें आरोपित जो ब्रह्म में जो धर्म का आरोप किया था मैं मनुष्य हूं स्त्री हूं पुरुष हूं बाल हूं वृद्ध हूं आदि आदि आदि धर्म आत्मा में सम्यक प्रकार का आरोपितम तद धर्म जो आरोपित आरोपित अतद धर्म जो आत्मा भिन्न में आत्म आत्मा धर्म का मान करके माने शरीर आदि धर्म का आरोप किया हुआ अतत धर्म आत्मधर्म जो नहीं है यही है समारोपित अतत धर्म निवृत्ति द्वारा जो आत्मधर्म नहीं है मनुष्य आदि धर्म आत्मधर्म नहीं उनके निवृत्ति के द्वारा ब्रह्मणी परिसमाप्ति ब्रह्म में समाप्त करना मान वो निवृत्ति करना उनका अतत धर्म के निवृत्ति के द्वारा न हम मनुष्य आदि भाव में जाकर के ब्रह्मणे परिसमाप्ति ब्रह्म में समाप्ति होती है उसके परानिष्ठा कहा हुआ है ज्ञान संतान रूपा उच्चते ज्ञान की तो धारा ज्ञान होने के बाद में दृढ़ करने के लिए निर्दिध्यासन बोलते हैं ये ज्ञान संतान रूपा ज्ञान की जो धारा परंपरा है जिसको निध्यासन कहा जाता है सुनो समझो करो बोलते ना सर्वण मन निध्यासन निध्यासन स्वरूप है वो विश्व को कहा जाता है सा कार्य वो कर्तव्य है ज्ञान की परानिष्ठा कर्तव्य है सुसंपाद्य सुसंपाद्य हो जाती है तब भी परानिष्ठा यदि बुद्धि विशुद्ध हो शरीर निर्यादि को अपने अधीन किया हो शब्दादि विषय को त्याग दिया हो शरीर स्थिति मात्र के लिए ही जितना उपयुक्त होता है उसको छोड़कर उसमें भी राग द्वेष को रहित करके उपभोग कर रहा हो तो ज्ञान के जो निधिध्यासन है उस स्वरूपा है उसको करना चाहिए सुसंपाद्य यदि सुसंपाद्य हो जाती है कहा इति यदुक्तम जो कहा कथम के न उपाय न इति वो कैसे होगी वो ज्ञान निष्ठा कैसे बनेगी निष्ठा ज्ञान से परा कहा हुआ पूर्व श्लोक में कैसे हो पाएगी ज्ञान निष्ठा मान ध्यासन कैसे बनेगा ज्ञान का अम ब्रह्माष्टमी का धारा कैसे चल पाए किस उपाय से प्रश्न होता है कहा यह से ज्ञान से परा निष्ठा चते कथम कार्य कैसे करना चाहिए इसका अर्थ यही है पृष्ठम उपाधे उपाय भेदम उदाहरण कहते हैं पूछा हुआ ही उपाय विशेष है पूर्वादि ने उपाय पूछा था उसी को यहां उदाहरण देते हैं यह उपाय चाहिए तो ज्ञान की निष्ठा बनाने के यही उपाय चाहिए उसके बाद नहीं होगी क्या उपाय चाहेगा बुद्धिया विशुद्धायुक्त तो धृतात्मा नियम में शब्दादि विषयास्तवा राग दोषो विदर्श के कहा हुआ है बुद्धिया माने आया कहा हुआ है अध्यवसायात्मकया का हुआ है क्या है का अध्यवसाय माने क्या है ब्रह्मात्मा तत्व निश्चय यही है बुद्धि में ब्रह्म स्वरूप जो जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य जो ब्रह्मात्मा तत्व स्वरूप है उसका निश्चय करना अध्यवसाय होता है यही यही है तत्व समझना निश्चय करना यही बुद्धि है विशुद्ध बुद्धि वही है माया रही तत्व संशय विपरीत शून्यत्व विशुद्धया का माने माया रहित या बोला हुआ है माया रहित संशय विपरीत भाव से रहित हो मैं परमात्मा हो सकता हूं नहीं हो सकता हूं ये भी नहीं है संशय भी नहीं है और विपरीत भाव भी नहीं है मनुष्य आदि में आत्मभाव भी नहीं है विपरीत बुद्धि भी नहीं है जैसे रज्जु में सर्प देखना विपरीत बुद्धि आत्मा में शरीर देखना ये विपरीत बुद्धि है है आत्मा शरीर भाव में देखना ये विपरीत बुद्धि भी नहीं है जहां ये कहते माया रहित का अर्थ होता है उस विषय में माया रहित माने क्या है संशय भी ना हो उस विषय में और विपर्य भी न हो शरीर आदमी आत्मबुद्धि भी न हो मैं ब्रह्म हूं या नहीं ऐसा भी न हो संशय भी न हो शब्दादि समस्त विषय त्यागे देह स्थिति रवि दुष्टा यदि सदी आसंदेह शब्दादि सारे विषयों को यदि त्याग देगा शब्द स्पर्श शब्द शब्दादि विषय तक तो बोला हुआ है यदि सबके सब विषय त्यागेगा तो शरीर की स्थिति नहीं बन पाएगी समय के अनुसार शब्द का ग्रहण भी चाहिए स्पर्श का ग्रहण भी चाहिए आदि सभी पांचों विषय का सेवन हो होना चाहिए शब्दादि समस्त विषय त्याग सारे के सारे पांचों विषयों का त्यागने पर देह स्थिति रवि फिर देह स्थिति के लिए भी दुष्ठित हो जाएगी यह स्थिति भी नहीं रहेगी कैसे होगा फिर आगे साधन इस संघ आगे से आती थी आशंका हाँ, सामर्थ्य आदर सामर्थ्य अभी साधन अवस्था में है किसमें साधक अवस्था में है सिद्ध अवस्था में नहीं है इसलिए कहा सामर्थ्य शरीर स्थिति मात्रान केवल मुक्तवा बोला शरीर स्थिति मात्र के लिए केवल इतने को छोड़कर बाकी शब्द आदि को ग्रहण नहीं करना ये बता कहा हुआ है विषय मात्र त्यागे यदि पांचों विषयों को बिल्कुल त्याग कर देंगे आदि का शब्दादि विषय तो कहा हुआ है तो विषय मात्र त्याग है पांचों विषय मात्र को सबके सब त्याग करने पर देह स्थिति अनुपत्य है फिर देह की स्थिति होना संभव नहीं है देह रहेगा ही नहीं ज्ञान निष्ठा सिद्धि ज्ञान निष्ठा असिद्धि प्रसंगात ज्ञान निष्ठा की सिद्धि नहीं हो पाएगी तो फिर अभी निध्यासन में जाना है उसने तो निध्यासन कैसे होगा सारे सारे आदि छोड़ेगा तो त्यागेगा तो इसलिए यही है सामर्थ्य देहस्थिति स्थिति अर्थत्व अनुज्ञातेशु अर्थेशु देहस्थिति के लिए जो अनुज्ञा है शास्त्र को अनुज्ञा है अनुमति देते हैं शास्त्र इतना विषय सेवन करे करके देहस्थिति अर्थत्व प्रयोजन है ना देहस्थिति के प्रयोजन के द्वारा अनुज्ञातेश अर्थेश जो अनुज्ञात शास्त्र के द्वारा अनुज्ञात अर्थ हैं अनुमत हैं शास्त्र ने जिसको कहा लेने के लिए प्राप्तम रागादि फिर राग द्वेष प्राप्त होगा उसमें भी मुझे यही शब्द प्रयोग करना है दूसरा नहीं करना ये करना वो नहीं करना राग द्वेष प्राप्त होगा इसलिए राग आदि ज्ञान निष्ठा प्रतिबंधक राग राग द्वेष आ जाए उन शब्द और शब्दादि विषयों में देह स्थिति के लिए प्रयुक्त शब्द आदि हैं तो क्या ज्ञान निष्ठा के प्रतिबंध हो जाएंगे फिर वह राग द्वेष में लग जाएगा तो कहते नहीं नहीं शरीर इत्यादि कहा था शरीर स्थिति थुक्ते न प्राप्त राग द्वेश विदेश से कहा शरीर स्थिति के लिए जितने शास्त्र ने अनुज्ञा दी है अनुमति दी है उनमें भी राग द्वेश को त्याग करके सेवन करना है ये कहा हुआ है परित्यज्य ऐसे त्याग करके क्या करना आगे विविध देश से भी तुम विविध से भी लघुभाषी यथवाक्य आगे और भी साधन है यही मात्र नहीं जो ब्रह्म भाव में पहुंचने के लिए साधन है यहां तो विविध देश से भी तुम इत्यादि कहना है ये कहना है एक तथा उसके पश्चात इतने करने के पश्चात विशुद्ध बुद्धि अपने कर्म के अनुसार होकर के संस्कृत होकर होता हुआ और शरीर इंद्रिया आदि को अपने अधीन करके धृत्यात्मा नियम से कहा आत्मा ने शरीर इंद्रिय संघात है कार्यक्रम संघात को नियंत्रण करके शब्दादि विषयों को बाहर से त्याग करके केवल शरीर स्थिति मात्र के लिए प्रयुक्त में रामदेश को त्याग करके सेवन करना उसके आगे और भी कर्तव्य है कहते हैं ये कहना है ठीक है हमें कहते हैं आगे ना बुद्धेर वैशारेद्यम यत्न कार्य करना नियमन बुद्धि में विशारदा क्या है हम्म। यानी क्या चाहते हैं तो कहा कार्यकरण में नियंत्रण करने करती हो तो बुद्धि को विशारद हो गई बुद्धि विशुद्ध हो गई समझना देह स्थिति हेतु अतिरिक्त विषय त्यागो देह स्थिति अर्थेशु तेसु राग वेश वर्जनम उपाय भेदे सिद्धे संति अंतराणी अभी अपने साध्यान करते हैं देह स्थिति के हेतु जितने हैं विषय का परित्याग देह स्थिति से अतिरिक्त जो अपने शरीर जितने काम चले उतने से अतिरिक्त विषयों का त्याग होना चाहिए साधक के यहां देहस्थिति अर्थे से देहस्थिति के लिए जो विषय अनुमत है शास्त्र के द्वारा अनुज्ञा है शास्त्र ने अनुमति दी है उसमें भी तेज मान जो शब्द आदि विषय है उसमें राग द्वेष वर्धनम राग द्वेष रहित होना चाहिए उपाय भेद सिद्ध उपाय विषय सिद्ध होने पर संधि उपाय अंतराल ये तो उपाय भेद सिद्ध होने पर अन्य भी उपाय है इतने मात्र नहीं और भी उपाय है तो आत्मभाव में पहुंचने के लिए संधि उपायांतराणी यत्न साध्या प्रयत्न से साध्य उपाय और भी है प्रयत्न पूर्वक होते हैं और उपाय है क्या है प्रयत्न क्या करना तो तथा ततः करके उसके पश्चात इतने करने के पश्चात जो विशुद्ध बुद्धि से युक्त हो गया है अपने वर्णाश्रम कर्म के माध्यम से विहित कर्म के माध्यम से उस उस बुद्धि के द्वारा धैर्य पूर्वक मान शरीर इंद्रियादि को नियंत्रण करके शब्द आदि विषयों को त्याग करके जिससे शरीर की स्थिति बने इतने छोड़कर बाकी शब्द आदि को त्याग कर उसमें भी जो शरीर स्थिति के लिए प्राप्त शब्द आदि है उनमें भी राग दोष को त्याग कर उसके बाद क्या करना है कर्तव्य क्या है साधक का तो कहते हैं तथा उसके पश्चात विविप्त से भी लघ्वासी यत वाक्काय मानस ध्यान योग पर नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित निमित्त सेवी लघ्वासी यत भक्ताय मानस ज्ञान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित विविक्त सेवितुम शीलम अश्य विविध सेवी जैसे उष्णभोजी होता है सुप्रजातो ऋणिष्ठा छिल्ले ऋण प्रत्यय लगा हुआ है एकांत सेवन करने का जिसका स्वभाव बन गया हो ऐसा होना चाहिए साधक को समाज में बैठ करके आत्मचिंतन होना संभव नहीं होगा विविक्त सेवी कहा विविक्त मन एकांत सेवी विविक्तम सेवितुम शीलम यश्य जिसके स्वभाव बन गया एकांत रहने का ऐसा साधक को होना चाहिए यदि आत्म प्राप्ति करना हो तो और दूसरा विशेषण लगाते हैं लघुआशी कम भोजन होने जाए लघु आसनम सेवितुम अश्य शीलम अश्य कम भोजन करना जिसका स्वभाव बना हुआ है अधिक भोजन करेगा निद्रा आलस्य के चक्कर में पड़ेगा फिर आत्मचिंतन हो नहीं पाएगा लघुवासी लघु असनम असनम से भी तुम ऐसे जिसका लघु असन असन माने भोजन कम भोजन करना जिसका स्वभाव बना हुआ है और तीसरा विशेषण यथवा कायमान शरीर इंद्रिय मन आदि को जिसने नियंत्रण किया है यथा संयतानी कायवाक मानसानी ये न जिसने ये सब तीनों को नियंत्रण किया शरीर को भी नियंत्रण किया हो इंद्रियों को भी या वाक शब्द से द्वारा सभी इंद्रिय आ जाएंगे उपलक्षण है सभी इंद्रियों को अपने अधीन किया हो मन को भी अधीन किया हो ऐसा होना चाहिए साधक को इनके चलते नहीं चलना चाहिए ध्यान योग परोदित उसके पश्चात आत्मचिंतन करने लगेगा वो वही परम योग होता है आत्मचिंतन या ध्यान योग बने आत्मचिंतन ध्यान ध्यान ही योग है ध्यान योग परवर्तिम कहा ध्यान आत्मचिंतन के परायण होता हुआ वैराग्यम समुपाश्रित जब तक विश्व से वैराग्य नहीं होगा ध्यान योग होना संभव अंतर्मुखी वृत्ति में जा ही नहीं सकेगा विश्व से वैराग्य श्लोक परलोक संबंधी विषय भावी विषय वर्तमान विषय को तो त्यागा ही होगा यदि वर्तमान विषय भी नहीं त्यागता हो तो साधक बन ही नहीं सकता किंतु भावी जो विषय हैं पुत्रेण एवं को चाहिए कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक इत्यादि है भविष्य में भी तत्त विषयों की आसक्ति में पड़ा हुआ तो व्यक्ति भविष्य में भी इसी लोक में रहना अभी मनुष्य लोक में है भविष्य में मनुष्य लोक से आता हो तो जाया मैं ऐसे ऐसे आरंभ करता है अज्ञान मेरी पत्नी हो जाए क्यों सुना है पुत्र हम लोग को जाइए सुना पुत्र रूप से ये लोग जितना ये शरीर से जितने पाएगा पुत्र भाव में आना पड़ेगा तो पुत्र भाव में आने के लिए पत्नी की आवश्यकता होगी इत्यादि इसी लोग को जितना हो भविष्य में इस मृत्यु के पश्चात तो पुत्र उत्पादन करने के साधन जुटाए और यदि पितृ स्वर्णलोक प्राप्त करने की चाहो भविष्य में मैं स्वर्गलोक प्राप्त करूं तो उसके लिए कर्म करेगा आप पितृलोक का कहा हुआ है आगामी और ब्रह्मलोक प्राप्त कर रहा हो तो उपासना करेगा वर्तमान में उपासना करेगा भविष्य में ब्रह्मलोक प्राप्त होना है उसके भी त्यागा हुआ है उसने वर्तमान विषय को त्याग ही होगा नहीं तो साधक बन ही नहीं सकता भावी विषयों को भी त्याग यही है त्याग दिया यही होगा वैराग्यम समुपाश्रित है वैराग्य है पूर्ण विषय से वैराग्य है जिसका ऐसा होता हुआ वैराग्यम संपाश्रित सन ऐसा होता होगा आगे श्लोक के साथ संबंध होगा कल्पते ब्रह्म हुआ कल्पते आगे क्रिया है राष्ट्र में कहते से सेवी कहते एकांत में रहने के जिसका स्वभाव बना हुआ है वो विवृत्त से भी कहलाता है विवृत्तम सेवितुम शीलम जिसका स्वभाव बन गया एकांत सेवन करना विवृत है अभी माने अरण्य नदी पुलीना गृह गुहादीन विवृतान देशान सेवितुम शीलम से विग्रह है इसका अरण्य जंगल में सेवन माने जंगल में रहने का जिसका स्वभाव बना हुआ हो नदी के किनारा नदी पुल माने नदी का किनारा गिरी गुहा आदि पहाड़ में जो गुफा आदि हैं जो भी है ऐसे जो एकांत स्थान होते हैं विविधांत देशान ऐसे देश को सेवित शिलमासी ऐसे सेवन करने जिसका स्वभाव बना हुआ है यानी नहीं प्रत्यय लगा हुआ है विविध भी विविध भी इसी को विविध भी कहते हैं ऐसा होना चाहिए और लघुभाषी का लघु आश्रम सेवितम अश्य कम भोजन करना जिसका स्वभाव बना हुआ है लघु आश्रम शीला का आज करता कम भोजन करने का स्वभाव वाला क्यों अधिक भोजन करेगा निद्रा आलस्य आदि के द्वारा आत्मचिंतन नहीं हो पाए विवृत से भी लघु है जो विवृत सेवन है एकांत देश के सेवन नदी पुलिन आदि इत्यादि हैं अथवा लघु आसन वाला है ये दो दोनों हैं इसका इंद्रियादि दोष निवर्तक ये सब इंद्रियादि जो दोष होते हैं इसका निवर्तक होते हैं दोनों ये दोनों यदि करेगा विविध देश का सेवन और लघु आसन क्या करेगा जो निद्रादि दोष है ना इसका निवर्तक होता है ये दोनों ऐसे साधन होते हैं चित्त प्रसाद हेतुत्व ये दोनों के दोनों अंतकरण की प्रसन्नता के हेतु होते हैं कौन विवेक सेवित्व तो लघु असनत्व तो, ये दोनों अंतकरण के चित्त के प्रसाद के प्रसन्नता के कारण बनते हैं दोनों क्यों निद्रादि दोष के निवर्तक होते हैं ये इसलिए ग्रहण किया गया है विपेश सेवित्व और लघु असनम इत्यादि का सेवन इसलिए किया ग्रहण किया है कहा आगे यथवा काय मानस शब्द है श्लोक में उसका अर्थ करते हैं यथवा काय मानस माने बाक च काय च मानस तीनों के दोनों शरीर वाणी मन तीनों को नियंत्रण किया है जिसने नियंत है नियत है जिसके कहा बाघ च काय च मानस यथानी संविधान ये तीनों को नियंत्रण किया है जिसने अपने अधीन कर रखा है जैसे ज्ञान निष्ठ से ज्ञान निष्ठा वाला व्यक्ति होगा उसका सब ज्ञान निष्ठ हो उस ज्ञान निष्ठ को क्या बोलेंगे यति उस यति का यथवा काय से कहा जाता है शरीर इंद्रिय आदि उसके अधीन होते हैं एवं उपरत सर्व का कर्म सर्व का कर्म कहते हैं इस प्रकार से क्या होगा जब शरीर इंद्रिय मन को नियंत्रण कर दिया जिस जिस व्यक्ति ने सारे के सारे कारण जितने इंद्रियादि हैं शरीर आदि हैं उपराम हो गए जिनके अपने अधीन कर रखा उसने विषयों से उपराम हो गए एवं ऊपर सर्व करणा का सारे के सारे कर्म साधन थे बाहर जाने के साधन विषय में जाने का वो नियंत्रित हो गए जिसके यथवाक्याय मान शब्द का एवं उपरतक सर्व करना संसारे इंद्रियों को नियंत्रण करता हुआ ध्यान योग पर हो ध्यान योग परायण हो कहा ध्यानम आत्मस्वरूप चिंतन ध्यान योग पर में ध्यान शब्द का अर्थ आत्मचिंतन आत्मस्वरूप का चिंतन बाह्य चिंतन नहीं आत्मस्वरूप का चिंतन माने बुद्धि के द्वारा माने विशुद्ध बुद्धि से युक्त है मन को नियंत्रण किया हुआ है उसने अपने अधीन किया है बुद्धि के माध्यम से धृतिपूर्वक धैर्यपूर्वक मन को नियंत्रण कर लिया है करता हुआ शब्दादि सब त्याग दिया है रात को मृत्यु उखाड़ को फेंक दिया है विविध सेवी है एकांत देश के सेवन करने वाला है और लघुवासी है माने कम भोजन करने का स्वभाव बना हुआ है जिसका नियंत्रित है बाक शरीर इंद्रिय काय बाघ मन जिसके नियंत्रित है तीनों के तो नियंत्रित है ध्यान है उसके बाद ही ध्यान आत्मचिंतन तब कर सकता है वो ध्यान योग पर कहा ध्यान योग पर कहते हैं ध्यान योग ध्यानम आत्मस्वरूप चिंतन में कहा हुआ है आत्मस्वरूप के चिंतन को ही ध्यान कहा जाता है योगा माने आत्म विषय एवं एकाग्रीकरण जो चिंतन चल रहा था उसी में ही एकाग्र करने का नाम योग है ध्यान योग में ध्यान शब्द का था आत्मचिंतन और उसी में एकाग्र करना विषयांतर में न जाना अन्य विषयों की तरफ कभी चिंतन न हो में योग शब्द से कहा गया है ध्यान ध्यान माने आत्मचिंतन है योग माने उसी में एकाग्र हो हमेशा इसी नाम योग है आत्म विषय में एकाग्र भी होगा यही है आत्मा के विषय में भी आत्म विषय में भी एकाग्र करना होगा चित्त को इसका नाम योग है कौ ध्यान योग दोनों ध्यान और योग हो गए आत्मचित्त हो रहा है अन्यत्र नहीं है मन उसी में एकाग्र है वही ध्यान योग योग हो परत्व कर्तव्य इसको परम समझ करके ये करना चाहिए साधक को ध्यान और योग आत्मचिंतन किंतु आत्मचिंतन के पूर्व साधन चाहिए उसी बिना नहीं हो पाएगा तो तो, तो ये वो दोनों को दोनों ही ध्यान योग परत योग परत्व कर्तव्य हो परम आश्रित होकर वही करना चाहिए यश्य स ध्यान योग पर जिसका कर्तव्य समझता है ये दो ही करना है कर्तव्य समझता है सारे साधन इसके लिए तैयार करके बैठा है आत्मचिंतन और उस चिंतन से अतिरिक्त चिंतन हो उसका नाम योग ये जिसका इस स्थिति में जो पहुंचा है उसको कहते हैं ध्यान और पर कहा है ध्यान और परो नित्यम कहा नित्य ग्रहण दिया है ध्यान और परो नित्यम आया तो नित्य शब्द किस लिए नित्य ग्रहण मंत्र जपादि अन्य कर्तव्यता अभाव आत्मचिंतन में लग गया हो तो मंत्र जपादि का अन्य कोई वहां कार्य नहीं होता उसका अभाव दिखाने के लिए है नित्यम का नित्य उसी में होना चाहिए उसके लिए मंत्र जपादि थे वहां पहुंचने के बाद में मंत्र जपादि की आवश्यकता नहीं नित्य ग्रहणम मंत्र जपादि अन्य कर्तव्यता कर्तव्य अभाव प्रदर्शन अन्य कर्तव्य नहीं रहेगा उस काल में आत्मचिंतन निरंतर हो उस काल में कोई अन्य कर्तव्य नहीं है उसका उसके लिए था पहले ही था कर्तव्य और वैराग्यम समुपाश्रित आया है वैराग्यम विराग भाव मैंने विषयों से आसक्ति का अभाव है वैराग्य है दृष्टादृष्ट सुविध कहां पर विराग भाव है दृष्ट विषय अदृष्ट विषय अदृष्ट विषय स्वर्ग आदि है दृष्ट विषय अभी वर्तमान में है पुत्रादि है सबसे वैराग्य हो मुझे पुत्रादि भी नहीं चाहिए स्वर्ग आदि नहीं चाहिए ऐसी स्थिति में हो यही है दृष्टा दृष्टा दृष्ट विषय सुदृष्ट और अदृष्ट दो प्रकार के विषयों में वैतृष्टम तृष्णा का अभाव हो जाना तृष्णा रहित हो समुपाश्रित इसमें संवृत प्रकार का उपाश्रित आश्रित यही है सम्यक प्रश्न आश्रित होता हुआ सम्यक उपाश्रित हो नित्य में व्यक्त नित्य ही आश्रित होना कभी कभी वैराग्य होने से काम नहीं चले तो ये अर्थ है कहा ठीक है भाई कहते हैं चित्त एकाग्र प्रसारार्थम विभुक्त सेवितों व्याकृत चित्त की एकाग्रता के लिए विभुक्त देश चाहिए साधक के लिए एकांत देश चाहिए करते अरण्य कहा जंगल अरण्य नदी पुलिना नदी का किनारा गिरी गुहा आदि पहाड़ की गुफा आदि हो यही है इन विभिन्न देशों का सेवन करना जिसका स्वभाव बन गया इत्यादि कहा था ठीक है मैं निद्रादि दोष निवृत्तम लघुआशितम विषय निद्रादि दोष माने ज्यादा भोजन करने निद्रा आ गया आलस्य आ जाए इसलिए लघुआशी कहा कम भोजन करने वाला हो निद्रादि दोष निवृत्तम निद्रादि दोष निद्रा आदि से लेना आलस्य आदि है इन दोषों की निवृत्ति के लिए लघुआशी तुम जो लघुआशी कहा हुआ है कम भोजन वाला हो कहा उसके कहते हैं लघु इत्यादि शब्द कहा था लघु आशी लघुन शीला इत्यादि कहा था अच्छा लघुआसन लघुआसन और इत्यादि कहा विविध सेवा लघुआसन और निद्रा दिवस निवृत्त चित्त प्रसाद हेतुत्व आदि कहा था ठीक है लघु मानी परमितम अपने अनुपात से परिमित होना चाहिए भोजन अपने अनुपात से होना चाहिए अधिक न हो लघु माने परिमितत्व परिमितम हितम च हितम भी हो हित करने वाला भी हो परिमित हो अपने माने अपने योग्यता से मापा गया हो ऐसी और हित करने वाला भी हो और वैद्य हो यज्ञ के लिए योग्य हो वैद्य माने यज्ञ के लिए योग्य हो भगवान के भोग लगाने योग्य हो ऐसा अशितम शीलम अश्य माने लघु लघु माने माने भी थोड़ा खाने मात्र से नहीं परिमित हो अपने देह के आधार पर परिमित हो और हितम हित करने वाला हो वैद्य माने यज्ञ के लिए उपयोगी हो भगवान के भोग लग सकता हो ऐसे अशितम शीलम अश्य यदि तथा उचित है लघु आसन शीलम कहा हुआ इसका अर्थ है विशेषण तात्पर्य विवृति दो विशेषण लगा दिया है विविधता से भी लघु लघु में कहा विवृत विवृत से भी कहा हुआ है और लघुआसी कहा हुआ है दो विशेषण लगाया हुआ है इसका तात्पर्य बताते हैं विशेषण और तात्पर्य दो विशेषणों का तात्पर्य का व्याख्या करते हैं विविधता इत्यादि शब्द कहा था विवृत सेवा लघु समय और निद्रादि दोष निवर्तक प्रसाद हेतुत्वादि कहा था जो विविध देश सेवन है एकांत देश के सेवन और लघु आसन माने अपने शरीर के लिए परिमित हो और मेद्य हो और हित करने वाला हो ऐसा भोजन ये दोनों के दोनों क्या निद्रा दोष का परिहार करने वाले दोष के निवर्तक होते हैं इसलिए चित्त प्रसन्नता के कारण होते हैं ये कहा ये दोनों के दोनों साधन है साधक के लिए विविध तो लघु अस्त्र निद्रादि आप शब्द आदि शब्द निद्रादि दोष निवृत्ति के लिए हेतु बताया था आदि से क्या देना कहते आलस्य प्रमादायो प्रमादादयो बुद्धि विक्षेपा विक्षेप का विक्षेप का जो निद्रा प्रमाद आदि है ना आलस्य प्रमाद आदि बुद्धि के जो विक्षेपक है उनके निवृत्ति किया गया इसके द्वारा एक कहा हुआ है फिर हम्म, निद्रादि दोष निवृत्तकत्व ने कहा प्रमाद आलस्य का भी निवृत्त के लिए कहा गया है बक्षमाण ध्यान योग और उपाय तो बक्षमाण ध्यान योग पर तो अभी आने वाला है उसके उपाय है दोनों कौन विवेदेश लघुवासी बक्षमाण ध्यान योग और उपाय विशेषणांतरम विभजित अन्य विशेषण भी है कौन है दो नहीं तीसरा भी है यथवा काय मानस जिसके वाणी शरीर मन सबके सब, सब नियंत्रित है जिसके जिसने नियंत्रण कर रखा है बाक्स से इत्यादि कहा था बाक्स से मानसम से यथानी समतानी ऐसे जिसके ये नियंत्रित है सब जिसके मन भी नियंत्रित है सारे इंद्रिया नियंत्रित है शरीर भी नियंत्रित है अच्छा बाघादि समय में से आवश्यकत्व देवतनार्थम सियाद उत्तम कहते हैं बाघादि जो तीनों का नियंत्रण करना अति आवश्यक है शरीर बाघ मन बाघ मन ये तीनों को नियंत्रण करना अति आवश्यक है नहीं तो ध्यान होगा ही नहीं चित्त में हो ही नहीं पाएगा बाघादि समय में से समय में से आवश्यक द्योतनार्थम आवश्यक दिखाने के लिए प्रकाशित करने के लिए सियाद ये उत्तम सियाद कहा है स्यात शब्द लगा दिया भाष्यकार ने लगाया हुआ है कहा हुआ है सम्यता बाघाधिकरण ग्राम से बाघादि जो कारण इंद्रिया इंद्रियादि समुदाय जिसके सम्मित हो गए नियंत्रित हो गए शरीर भी नियंत्रित है वाणी आदि इंद्रिया भी नियंत्रित है मन भी नियंत्रित है उसका अनायास न कर्तव्यों को सदी जब तीनों के तीनों अपने अधीन हो गए उसके लिए अनायास हो जाता है क्या आत्मचिंतन ही होगा उस काल में क्या होगा बिना परिश्रम कोई परिश्रम की आवश्यकता नहीं उस काल में आत्मचिंतन ही होगा जिसने क्या हो विशुद्ध बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित किया धैर्यपूर्वक नियंत्रण किया हो जो बाहर जाने का अभ्यास बना हुआ था मन का धैर्यपूर्वक उसको नियंत्रित कर दिया हो शब्दादि विषयों को त्याग दिया हो और सब माने अपने शरीर स्थिति के लिए जो शब्दाधिकरण था उसे भी रागवेश त्याग दिया हो और विवेक से भी एकांत सेवा सेवन करने का स्वभाव बना हुआ हो और कम भोजन करने का जिसका स्वभाव बना हो मान हित तो हो लघु हो हित तो हो वैद्य हो ऐसा भोजन कर स्वभाव बना हो और नियंत्रित किया है मन वाणी और इन, इंद्रिया जिसकी माने शरीर आदि ऐसा हो तो उसके लिए अनायास हो जाता आत्मचिंतन ही कहना है ये कह रहे हैं टीका में बाघाधिकरण ग्राम से जो नियंत्रित हो गया बाघादि जो कर्ण समुदाय इंद्र समुदाय जिनके उनका अनायास है ना कर्तव्य अनायास बिना परिश्रम के कर्तव्य का उपदेश करते हैं एवं इत्यादि का हुआ वास्तव में एवं उपरत सर्वकरण सारे के सारे इंद्रिया जिसके उपराम हो गए विषयों से ऐसे व्यक्ति का संग ध्यान योग परो ध्यान योग परायण हो कहा ध्यान माने आत्मस्वरूप चिंतन कहा आत्मस्वरूप चिंतन को ध्यान होगा ध्यान शब्द करते अर्थ यही यहाँ दही चिंतायाम दही धातु चिंता अर्थम है चिंतन करने अर्थम होता है उससे ध्यान बनता है ल्यूट प्रत्यय करके ध्यान बनता है योग मैंने आत्म विषय एवं एकाग्र करना आत्मा विषय में भी एकाग्र करना उनको अन्य विषय नहीं आने देना बीच में जिसको अखंडाकार वृत्ति बोलते हैं यही है योग तो ध्यान योग परत्व कर्तव्य वैसे वही परम भाव से कर्तव्य होता है जिसका ही कहा हुआ ऐसा ध्यान योग पर कहा ठीक है कहते हैं मंत्र जपादी आदि प्रतिक्षण प्रणामादयो ध्यान योग प्रतिबद्ध का गृहता कहते हैं नित्य ग्रहण किया ना नित्यम ध्यान एवं पर्व नित्यम कहा है नित्य ग्रहण किसके लिए कहा मंत्र जपादि अन्य कर्तव्य अभाव प्रदर्शनार्थम मंत्र जपा जो अन्य कर्तव्य था उसके लिए उस काल में नहीं जो ध्यान योग में लग जाता है आत्मचिंतन में उस काल में नहीं ये दिखाया तो आदि दिया आदि से क्या लेना मंत्र जपा आदि में आदि लगाया आदि से कहते हैं प्रदक्षिणा प्रणामाद उस काल में प्रदक्षिणा भी नहीं जो ध्यान योग में विक्षेप होगा प्रणाम करने लग जाए तब भी विक्षेप होगा यदि ध्यान में वास्तव में बैठा आत्मचिंतन में तो इसलिए विक्षेप के साधन होते हैं इसलिए ज्ञान योग प्रतिबंध का विहिता ज्ञान योग में जितने प्रतिबंधक आत्मचिंतन में प्रतिबंधक बनने वाले जितने थे उनका अभाव दिखा है नित्य ग्रहण इसलिए ध्यान योग पर नित्य का अर्थ यही है कहा उक्तोर एवं ध्यान योग उपाय उपायत्व उत्तम विराग भाव विभजते कहा ध्यान योग के उपाय था क्या वैराग्य जब तक विषयों से वैराग्य नहीं तब तक आत्मचिंतन होना संभव नहीं और आत्मा का वृत्ति एकाग्र होना भी संभव नहीं ये विस्तार के विभाग किया क्या विभाग है अदृष्टों में विराग किसमें दृष्ट विषय यह लौकिक विषय और अदृष्ट विषय पारलौकिक विषय दोनों में वैराग्य होना चाहिए तभी आत्मचिंतन कर सकता है जब तक दृष्ट विषय अथवा अदृष्ट विषय में मन लगा होगा तब तक आत्मचिंतन करने का अधिकार नहीं आ सकता ये कहा सम्यक्तम एवं जनकती जो समृद्ध कहा था वैराग्यम समुपाश्रित में सम लगा हुआ है तो संवित्व का अर्थ करते दे नित्यम कहा हुआ है यहां भी नित्यम लगाना कहा नित्यम एवं इत्यर्थ वैराग्य भी नित्य होना चाहिए कभी कभी वैराग्य भोजन के बाद में कुछ देर के तो वैराग्य हो ही जाता है ऐसा वैराग्य काम नहीं आएगा नित्य कहा विषयों से वैराग्य नित्य होना चाहिए वो सम का अर्थ नित्य है ये कहा हुआ है ज्ञान निष्ठ से इतर विशेषणांतरम समझ ज्ञान निष्ठा में बैठा हुआ यति होगा उसका अन्य विशेषण भी लगाते हैं इतना मात्र नहीं और भी है अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूजा कल्पते अहंकारम देहादि में जो अहंकार है मैं सुंदर हूं अमुक हूं ये हूं सो हूं न जाने कितने अहंकार है इसको त्यागना होगा हम्म। जो आत्म ध्यान योग के लिए विक्षेपक होते हैं देह में अभिमान आ गया मैं ऐसा हूं ऐसा हूं आत्मचिंतन बनाना मुझसे अहंकारम देहादि में जो अहंकार है बलम बल शारीरिक बल नहीं एक मन में बल होता है राग द्वेष रूप बल किसी में आसक्ति है किसी में द्वेष है बल आ जाता है मनोबल ऐसा मनोबल शारीरिक बल तो प्राकृतिक बल है उसको कैसे त्यागेगा वो नहीं त्याग सकता शारीरिक बल को नहीं त्याग सकता त्यागना बनता ही नहीं है तो प्रकृति का दिन है जैसा है वैसा है मनोबल जो आता है राग द्वेष बल कौन सा बल हाँ। इसको त्यागना होगा विमुच्य है त्याग करके अहंकारम बलम बल को त्यागना माने राग द्वेष बल जो अंतकरण में होते हैं इसको त्यागना बलम आगे दर्पम दर्पम माने घमंड होता है कुछ धन आदि के कारण से मेरे समान कौन है ऐसा आता है दर्प बोलते हैं इसको दर्पम कामम इच्छा जितने भी विषयों की इच्छा है क्रोधम क्रोध परिग्रह और परिग्रह का अभाव होना चाहिए इसको विमुच्य शब्द सबके साथ नहीं होगा परिग्रहम परिग्रह करने के मनुष्य का स्वभाव है उसका भी त्याग न होगा विमुच्य विशेषण मुच्य विमुक्त विमुच्य मुचरी मोचरे धातु त्वा है लेप है उसको त्याग करके इन सभी अहंकार को त्याग कर बल को जो काम आदि राग द्वेष आदि बल है अंतकरण में उसको त्याग कर डर पर घमंड को त्याग कर काम इच्छा को त्याग कर और क्रोध को त्याग कर परिग्रह को भी त्याग यदि परिग्रह करने लग जाएगा तो और का ठौर नहीं कहते और और और में विषयों की आर्जन में जिंदगी चली जाएगी फिर आत्मचित में कहा से कर पाएगा वो परिग्रह को त्यागना होगा विमुच्य सबको त्याग करके ममह ममता रहित तो होकर निर्गता ममा यश्य जिसके ममत्वपना तो समाप्त हो गया किसी देह देह देहादि में किसमें शरीर आदि में ममत्वपना तो समाप्त है निर्मम भूत है शांत उसी प्रकार शांत होता हुआ ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भवनाय समर्थो भवती अर्थ होता होता है यहाँ भूभो भावे क्यप ऐसा सूत्र है भू धातु से भाव में प्रत्यय करना तो क्यप होता है क्यप लगाएंगे तो गुण नहीं हो पाएगा हम्म। यदि असुयत लगाते तो भव भव्य बन जाता क्या बन जाता गुण हो जाता बांधवी प्रति से अबादेश हो जाता भव्य होता किंतु भूभो भावे क्या ऐसे सूत्र है कृत्य प्रत्यय में तो भूधातु से भाव में क्या प्रत्यय होगा क्या पुण्य से गुण देगा भूया बन जाएगा है भूया आया ब्रह्म होने के लिए समर्थ होगा तब इतने साधनों के पश्चात तब ब्रह्म भाव में पहुंचने के लिए समर्थ होता है यह मनुष्य भाव को परित्याग करने के लिए सारे साधन चाहिए वर्णाश्रम विहित कर्मों से लेकर के जो कहा गया यहां तक ये सब साधन होगा तो फिर ब्रह्म भवनाय कल्पते होकर कृपु सामर्थ्य धातु है कल्पते मतलब समर्थ होता है यज्ञ होता है या है अहंकारम मैंने क्या है तो भाष्य में कहते हैं अहंकरणम अहंकार अहम अहम करना इसको अहंकार कहते हैं कहा देह लिया देहादि में अहंकार करना इंद्रियादि में अहंकार करना मैं मनुष्य हूं एक अहंकार है मैं देखने वाला हूं सुनने वाला हूं इंद्रियों में अहंकार है अन्य में अहम तो को लगाना चाहिए अहंकारम मैंने अहंकरणम अहंकार अहम करने का नाम ही अहम अहम करने का नाम ही अहंकार है कहा तो कहा देह इंद्रियादि से देह इंद्रियादि में अहम अहम लगाना आत्मधर्म अन्यत्र ले जाके जोड़ना यही होता अहंकार तम अहंकारम एक उस अहंकार को विमुच्य क्रियापद है उसके साथ संबंध करना है बलम सामर्थ्य बल मैंने सामर्थ्य है कामरागा युक्तम माने मनो, मनोगत बल है कामरागा युक्त बल है ये स्थिति है तो बलम सामर्थ्यम माने कामरागाद युक्तम बलम एक कहा काम विषय की इच्छा और अथवा राग आदि राग द्वेष आदि बल इसी को कहा गया है बलम का अर्थ राग पूर्वक जो बल बल आता है किसी में आसक्ति गए तो कमजोर आदमी तगड़ा हो जाता है बल मनोबल द्वेष हो तो बहुत बड़ा शत्रु को मारने के लिए तैयार हो जाता है बल मनोबल इसे रहित होना चाहिए नेतरत दूसरे बल को नहीं लेना किसको शारीरिक बल को नहीं लेना है बल शब्द का नेतरत अन्य बल न इतरत इतरत अन्य बलम न अन्य बल को नहीं लेना शरीर आदि सामर्थ्य शरीर आदि में जो सामर्थ्य है वो तो प्राकृतिक है उसको त्यागना संभव नहीं है वो तो रहेगा शरीर आदि को सामर्थ्य होगा वो त्यागना बनता नहीं है बल का अर्थ बलम विभुष्य है बल त्यागना माने क्या है कामरा आदि प्रयुक्त जो काम राजद्वेश आदि प्रयुक्त बल है मनोबल है उसको त्यागना न इतर दूसरा बल नहीं कौन शरीर आदि सामर्थ्य शरीर इंद्रियादि में सामर्थ्य है वो त्याग नहीं सकता स्वाभाविक कहा तो स्वाभाविक है वो वो तो नैमित्तिक थे काम अनुराग दोषादि से होने वाले बल दोषा नैमित्तिक था किसी राग के कारण द्वेष के कारण आया था मनोबल था मन पे था वो उसको त्याग सकता है नैमित्तिक होगा त्यागेगा स्वाभाविक है शारीराज बल उसको त्याग नहीं सकता तत्याग से अशक्यवाद कहते स्वाभाविक है शरीर के बल तो प्राकृतिक है उसको त्यागना संभव नहीं शक्य नहीं है समर्थ नहीं हो सकता दर्पो नाम हर्षांतर भावी धर्मातिक्रम हेतु कहते दर्प माने क्या है किसी विषयों को लेकर हर्ष हो गया हर्ष होने के बाद में धर्म को अतिक्रम कर देता है हम्म। ऐसी स्थिति आ जाती है दर्प माने वो ये तो हर्ष के अनंतर भावी जब किसी विषयों को लेकर हर्षित हर्ष हुआ है उस स्थिति में धर्म का अतिक्रम के कारण हो जाता है वो दर्प दर्प हर्ष के क्या धर्म के अतिक्रमण करता है हर्ष के बाद होता है ये किसी विषयों को मनुष्य हर्ष हो गया हर्ष होने से धर्म का अतिक्रमण करेगा मर्यादा का अधिक उल्लंघन कर जाता है उसी का नाम दर्प होता है माने धर्म मर्यादा के उत्क्रमण के कारण होगा अतिक्रमण के कारण बनेगा कब होता है मर्यादा का अतिक्रमण धर्म माने किसी हर्ष के अंतर्भागी है हर्ष के बाद होता है जैसे कहा है हृष्टो तृप्यति दृप्तो धर्मम अतिक्रामती कहा हुआ है अश्वायन धर्म सूत्र में कहा हुआ है हृष्टो द्रुपति जो हर्षित होता है ना घमंड करता है वो क्या है हैं और द्रुप्तो धर्मम अतिक्रामती जो घमंड कर गया धर्म का अतिक्रमण कर जाता है स्थिति है विषयों के कारण हर्षित हो गया मेरे पास इतना विषय है ऐसे हर्षित होने पर दृप्त हो जाता है हर्षो दृप्यति हृष्टो दृप्यति कहा है घमंड आ जाता है उसको गमन होने पर धर्म का अतिक्रमण कर जाता है स्थिति है इसी का नाम है <clears throat> काम आदि का अर्थ यही है दर्प का अर्थ यह है काम इत स्मरणाद ऐसा स्मरण है आश्वलायन धर्म इसमें आश्वलायन धर्म सूत्र में कहा हुआ है कहा तम चाह उसको दर्प को भी त्याग करके विमुच्य शब्द क्रिया है उसके साथ अनुकरण करना काम मन इच्छा विषयों की इच्छा उसको भी त्यागना होगा यदि विषयों की इच्छा रखेगा तो आत्मचिंतन आत्मचिंतन कहां से होगा ध्यान एवं में नहीं हो पाएगा क्रोधम द्वेषम परिग्रहम इंद्रिय मनोगत दोष परित्यागे भी शरीर धारण प्रसंग धर्मा धर्मानुष्ठान वित्तीय बाह्य परिग्रह कहते हैं प्राप्त इत्यादि अहम काम मन इच्छा क्रोध मन द्वेषम परिग्रह परिग्रहम परिग्रहम कामम क्रोधम परिग्रहम है काम माने तो इच्छा है द्वेष माने क्रोध है क्रोध को द्वेष कहा गया है इनको भी त्यागना होगा विषयों की इच्छा अथवा द्वेष इनको त्यागना होगा परिग्रह शब्द आया आगे परिग्रह माने इंद्रिय मनोगत दोष परित्यागे भी इंद्रिय का दोष मनोगत माने दोष त्यागने पर भी शरीर धारण पर ठीक है इंद्रियों में दोष नहीं है शुद्ध कर दिया है और मन में भी दोष नहीं किंतु शरीर धारण के लिए तो कुछ ना कुछ परिग्रह तो करेगा ना जिससे जीविका के साधन कुछ चाहिए तो शरीर धारण प्रसंग है ना धर्मानुष्ठान में तेन उसके लिए कोई धर्म का अनुष्ठान जिससे कि शरीर धारण हो अथवा शरीर धारण प्रसंग से परिग्रह करता हो अथवा कुछ धन आ जाए तो मैं धर्म का अनुष्ठान करूंगा इसके लिए परिग्रह करता हो या तो शरीर धारण के उद्देश्य है या धर्म करूंगा करके बाह्य परिग्रह प्राप्त बाहर के परिग्रह की प्राप्त है क्यों शरीर धारण के लिए बाहर के भिक्षाटन आदि कुछ भी नहीं करेगा तो हो नहीं पाएगा परिग्रह करने लग जाएगा अथवा धर्म करने की इच्छा हो गई धर्माचरण की इच्छा से भी परिग्रह करता है कुछ मिले तो दान पुण्य करो इत्यादि तम जब विमुच्य उसको भी त्यागना चाहिए परित्यज्य का विमुच्य मन परित्यज्य परमहंस परिप्राजको भूतवा ये परमहंस परिप्राजक होकर के भिक्षाटन आदि में लगकर देह जीवन मात्र भी देह के विषय में जीवन के विषय में भी निर्गतम भावो ममता रहित तो होकर के परिग्रहम हाँ, निवर्तम निगत निर्गतम भावो निर्मम का इसका अर्थ है निर्मम का हुआ है अतएव शांत उपरता निर्ममा शांत है परिग्रहम ये कहा हुआ है विमुच्च निर्ममा शांत हो शांत इसलिए माने परिग्रह का अभाव है जिसमें देह शरीर रखने की जीवन आदि आदि में भी ममता नहीं है जिसकी ऐसी स्थिति में अतः ये शांत है इसलिए शांत है वो उपरता उपराम है यह संभृत आयास ये तीर कहा जिसने उपसंगार कर दिया परिश्रम जिसने उपसंगार कर दिया जो बाह्य विषयों का परिश्रम था उपसंगार कर रखा है ये तीर ज्ञान निष्ठो जो ज्ञान निष्ठ है वो ज्ञान में निष्ठा रखने वाला ब्रह्म भूया मन ब्रह्म भवन आया ब्रह्म होने के लिए अभी ब्रह्म भाव में नहीं पहुंचा है ये साधन पूरा होगा तो ब्रह्म भाव में पहुंचेगा तो कल पदे माने समर्थो भगवती ये अर्थ है वो समर्थ होता है कृपा सामर्थ्य धातु है ठीक है मैं कहा नित्यम ध्यान योग पर समुचितम कारणांतरम रोते ध्यान योग में नित्य परायण होने पर और भी कारण है इसके अहंकार आदि को त्यागना होगा यही कारण होता है ना अहंकारम बलम तर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम इत्यादि ये भी त्यागना होगा इत्यादि अहंकरणम अहंकार बोला था उसी का अर्थ यही था सामर्थ्य मात्र बल शब्दाद उपलब्ध माने किम विशेष वचन इतिहास का शारीरिक सामर्थ्य हो चाहे राग द्वेष आदि सामर्थ्य होने से सामर्थ्य सामर्थ्य मात्र में बल शब्द का प्रयोग होता है फिर विशेष में क्यों राग द्वेष आदि बल को क्यों लिया ये प्रश्न है सामर्थ्य मात्र बल शब्दात उपलब्ध माने बल शब्द आया हुआ है श्लोक में उपलब्धि हो रही है तो सामर्थ्य मात्र में क्यों है चाहे देहगत सामर्थ्य हो चाहे मनोगत सामर्थ्य हो फिर विशेष वजन क्यों यहां भाष्यकार ने विशेष लगा दिया रागद्वेश आदि बल मनोबल बोला हुआ यहां क्यों विशेष वजन ये शंका आई तो कहा स्वाभाविकत्व शारीरिक बल तो स्वाभाविक है नैमित्तिक नहीं है जो रागद्वेश आदि बल नैमित्तिक विकसित निमित्त निमित्त से आते हैं वो जो निमित्तजन्य होगा उसको हटाया जाता है स्वाभाविक को हटाना नहीं होता अग्नि की उष्णता को कोई हटा सकता है जल की शीतलता को नहीं हटा सकता स्वाभाविक है जल में जो उष्णता आ गई नैमित्तिक के में वो हटाया जा सकता है जल में जो उष्णता नैमित्तिक है उसको हटाया जा सकता किंतु शीतता को हटाना संभव नहीं स्वाभाविक को हटाया नहीं जा सकता यही है स्वाभाविकत्व इत्यादि कहा था स्वाभाविकत्व न तत्याग से अशक्यवाद जो शारीरिक बल है ना सामर्थ्य उसको त्यागना संभव नहीं स्वाभाविक है वो उगते अर्थ मानमा दर्प का अर्थ किया था ना दर्प माने क्या है हर्षांतर भावी धर्म अतिक्रम हेतु कहा हुआ है हर्ष के अनंतर होता है दर्प धर्म के अतिक्रमण करने का कारण बनता है दर्प यही है ये प्रमाण दिया क्या प्रमाण है आश्वायन धर्म सूत्र है एक हृष्टो दृप्यति दृप्तो धर्मम अतिक्रामती ऐसा आया है आश्वायन जी ने कहा हुआ है हृष्ट हो गया विषयों से हर्षित हो गया वे व्यक्ति क्या करता है घमंडी हो जाता है घमंड होने पर धर्म का अतिक्रमण कर जाता है है आगे वैराग्य शब्द न लब्धस्यापि कामत्याग से पुनर्वचन प्रकृष्टत्व से अपनार्थ अपनार्थक कहते हैं पूर्व में वैराग्यम समुपाश्रित पूर्व श्लोक में बता दिया फिर यहां कामम क्रोधम परिक्रम काम शब्द क्या है इच्छा का परित्याग बोल रहे हैं यहां तो वैराग्य हो गया तो इच्छा का परित्याग तो हो ही गया है तो पूर्व श्लोक में वैराग्य शब्द से कहा था फिर यहां काम शब्द से दोबारा कह रहे हैं उसी को ये भी यहां शंका है वैराग्य शब्द है ना लब्ध से आप वैराग्य शब्द से इच्छा का अर्थ आ चुका है इच्छा का त्याग ना वैराग्य मानी इच्छा का त्याग पूर्व श्लोक में है वैराग्यम समुपाश्रित आया या कामम क्रोधम परिक्रम काम शब्द आया हुआ है तो वैराग्य शब्द के द्वारा प्राप्त हो, होता हुआ भी काम त्याग से जो काम का त्याग है इच्छा का त्याग त्याग से पुनर्वचन दोबारा कहा हुआ है किसके लिए कहते ये विशेष जोर देने के लिए कहा है प्रकृष्टत्व ख्यापनार्थम वैराग्य शब्द से अर्थ आते हुए काम सदगा विशेष है इसको त्यागना बहुत सावधान से त्यागना चाहिए इसके लिए प्रकृष्टत्व ख्यापन के लिए कहा गया है विशेष प्रयत्न करना होगा इसके लिए इसके लिए है अहंकार आदि त्याग जो अहंकारम बलम तर्पम कामम क्रोधम परिक्रम सबको त्याग हो गया अहंकार आदि त्यागे परिग्रह प्राप्ति अभाव अब परिग्रह होगा ही नहीं जो अहंकार आदि त्याग कौन सा परिग्रह करे फिर परिग्रह शब्द क्यों दिया होगा यह कामम क्रोधम परिग्रहम जो अहंकार आदि अहंकार को त्याग दिया है अहंकार बलम बल को त्याग दिया रागवेश आदि बल को त्यागा है दर्प को त्याग दिया है फिर काम क्रोध त्याग दिया है फिर परिग्रह क्या रह गया परिग्रह इन्हीं का था ना ये शंका है अहंकार आदि त्यागे जो अहंकार आदि सभी को त्याग त्यागने पर परिग्रह प्राप्ति अभाव फिर परिग्रह होना तो संभव ही नहीं है तो तत्याग उक्तिर अयुक्त उसके त्याग के कथन या क्या परिग्रह का त्याग कहा उसको ठीक नहीं है अयुक्त है ऐसे शंका आगे तो कहा अरे बाबा परिग्रह इसका ठीक है अहंकार देहादि में अहंकार भी नहीं है राग द्वेषादि रूपी बल भी नहीं है त्याग दिया है विषयों की इच्छा भी त्यागा हुआ है फिर भी अभी शरीर धारण प्रसंग तो आएगा ही अभी कैवल्य मुक्ति में तो है ही नहीं जीवन मुक्ति अवस्था में है वो शरीर स्थिति के लिए तो कुछ परिग्रह होगा अथवा धर्म की धर्मानुष्ठान की प्रसंग आ सकता है उसके लिए परिग्रह करने की संभावना है इसलिए उसका भी त्याग न बोला शरीर स्थिति के लिए भी परिग्रह की आवश्यकता नहीं क्यों प्रारब्ध के अनुसार शरीर है तो प्रारब्ध जैसा देगा वैसे होगा प्रारब्ध का अधीन है ऐसा मान के रहे परिग्रह का भाव और धर्म की प्रसंग तो प्रसंग ही नहीं होगा क्यों धर्म का प्रश्न क्या होगा धर्मार्थम ऐसे वित्ते निरीहम अभी तद वरम प्रक्षालना दिपंग से दूराद अर्थवरम वरम ऐसा नीतिशास्त्र में आया है धर्म के लिए जिसके वित्त संग्रह करने की इच्छा होगी धन संग्रह करना किसके लिए अपने लिए नहीं विषय भोग के लिए नहीं धर्म करूंगा निरीहम तद वरम इच्छा रहित तो निचेष्ट हो जाना अच्छा है क्यों धर्म करना माने क्या है चंदा करेगा धन लाएगा उसके बाद किसको देगा ब्राह्मण को दान देगा अपने पास तो कुछ रहना नहीं है प्रख्यालनाधि पंकस्य हाथी के जैसे कीचड़ में जाना फिर बाद में कीचड़ लगाना पहले तो नदी में जाना स्नान करना फिर कीचड़ लगाना ऐसे होगा लाना फिर दूसरे को देना प्रक्षालनाधि पंकस्य मैंने कीचड़ को धोने की अपेक्षा कीचड़ लगाना ही नहीं बुद्धिमत्ता ये होगी ऐसा आया नीति शास्त्र में यही कहना चाह रहे हैं हम देह इत्यादि कहा था हम्म। देह इत्यादि देह जीवन मात्र भी निर्गत भावो देह के विषय में देह जीवन माने मेरी स्थिति बनी रहे प्राणाधार होता है इसे भी निर्मम भाव है मेरी नहीं है ऐसे समझ के बैठा हुआ हो अतएव शांत व्रत इत्यादि आया था ठीक है मुझे अहंकार ममकार और अभाव है ना देखो शरीर में शरीर निग्रह में अहंकार भी नहीं अन्य विषयों में भी मेरा है विश्व भी नहीं अहंकार ममकार का अभाव है दोनों उसका अहंकार मम यहां अहंकार होता है मैं मैं मैं और विषयों में मेरा मेरा मेरा दो ही तो होते हैं अहंकार ममकार और अभाव अहंकार भी नहीं ममकार भी नहीं है जिसमें इसका अभाव होने से अभाव है ना प्राप्तम अंतकरण उपरतिम अनुदति इंद्रिय क्या अंतकरण क्या उपरांग होगा विषयों से अहंकार और ममकार के भाव होने पर अंतकरण की कोई किसी विषय में प्रवृत्ति नहीं होगी उपरांग हो जाता है यह अनुवाद करते अतएव इत्यादि कहा था अतएव शांत उपरता अंतकरण शांत हो गया जिसका अहंकार ममकार के अभाव होने से निर्बमा शांत था ना विमुच्च निर्बमा शांत टीका में कहते हैं उत्तम अनुत्या जीवन एवं असो ब्रह्मी भवती कहा इसी पूर्वाज्ञ अनुवाद करते हुए ही जीते जी जीवन मुक्ति काल में ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है ब्रह्मी भगवती अब्रह्म ब्रह्मी भवती पहले ब्रह्म नहीं मानता था अपने को अब्रह्म चुई प्रत्यय लगा दिया चुई हम्म, है के संपत्ति करते चुई अभूत तदभावी थे वक्तव्यवार्तिक है चुई प्रत्यय लगा ब्रह्मी भवती पहले ब्रह्म भाव में नहीं था अब ब्रह्म भाव में पहुंच जाता है है फलितमह यह संभृत आयास का परिश्रम को जिसने उपसंगार कर दिया यतिर ऐसा यति होगा ज्ञान निष्ठ हो जो ज्ञान निष्ठा वाला है ब्रह्म या मैंने ब्रह्म भूआय कल्पते का ब्रह्म होने के लिए समर्थ होता है समर्थी भगवती कहा समर्थो हो भगवती इत्यादि कहा था ठीक है हमने कहा निष्ठ पदार्थ उर्दुम सशब्दो द्रष्टव्य यति के आगे ना ज्ञान निष्ठा शब्द के पहले क्या स शब्द स ज्ञान इति स शब्द देखना चाहिए स शब्द लगा के अनुय करना चाहिए भाष्य में जो ज्ञान निष्ठा शब्द है उसके पहले स माने वह इत्यादि ब्रह्मणो भवनम अनुसंधान परिपाक पर्यतम साक्षात करणम तदर्थम इतिहावत ब्रह्म होना माने क्या है ब्रह्म बनना माने क्या है ब्रह्म होना माने अनुसंधान परिपाक अनुसंधान का परिपक्वता पर्यंत चलते रहना साक्षात्कार साक्षात्कार करना पहले अनुसंधान के माध्यम से चल रहा था साक्षात्कार ये ब्रह्म भावना हम ब्रह्माष्टमी भाव में पहुंचाना तदर्थम इसके लिए ब्रह्म भवना भवनाय कल्पते कहा था ये कहा समय हो गया है यही रखते हैं फिर करें ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्य ओम शांति